यकीनन अल्लाह ईमान वालों से राजी हो गया जब वो हदैबिया में दरख्त के नीचे आप सल्लल्लाहु वसल्लम की बैत कर रहे थे तो जो उनके दिलों में था उस अल्लाह को पहले से मालूम था फिर उसने उन पर दिल का सुकून और इतमान नाजिल फरमाया और उन्हें एक बहुत ही करीबी फतह खैबर का इनाम अता फरमाया